केन उपनिषद के प्रारंभ में भूमिका रूप से भाष्य पदभाष्य और वाक्यभाष्य दोनों पूरा हो गए अभी उपनिषद मंत्र प्रारंभ होगा कश्चित गुरु ब्रह्मनिष्ठम विधिवद उपेत्य प्रत्यगात्म विषयाद अन्यतर शरणम अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन पप्रच्छेति कल्प्यते ऐसे नहीं तो कहा गया श्रुति में किंतु वो प्रश्न है आगे उत्तर है तो प्रश्न है तो प्रश्नकर्ता कोई होगा प्रश्नकर्ता वही होगा जो जिज्ञासु होगा और जो प्रश्न करता है विशेष सिद्ध होता है नित्य शिव अचल की इच्छा करते हैं प्रश्न किया केन सितम इत्यादि ओम के सितम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त केने सितां वाच मीमा वदंती चक्षुश्रोत्र कौ देव युनक्ति ओंकार पर ब्रह्म का वाचक और प्रतीक है प्रारंभ करते समय ओंकार शब्द के साथ से उच्चारण होता है मंत्र मंगल है केन ईशितम पतति प्रेषित मन मन केन ईशितम प्रेषित पतति मन पतति गच्छति मन जाता है केन ईशितम किसकी इच्छा से किसकी इच्छा से मन जाता है और प्रेषित प्रेषितम है प्रेरित होता है किसकी इच्छा मात्र से इच्छा से प्रेरित होकर के मन जाता है अपने विषय को ग्रहण करता है विषय चिंतन करता है केन प्राण प्रथम प्रेरित युक्त केन युक्त प्राण प्रथम प्रेरित किससे नियुक्त होकर के प्राण प्रईति प्राण प्रथम है अन्य इंद्र व्यापार के पहले प्रथम व्यापृत होता है प्रथम होकर के प्राण अपने विषय को जाता है प्राण अपने व्यापार करता है किसके द्वारा प्रेरित होकर युक्त प्रयुक्त होकर के केन इसीता वाचम इमा वदंती वदंती का करता है लो, लोक बहुवचन है किसकी इच्छा से इमा वाचम बदंती शब्द प्रयोग करते हैं चक्षु श्रोत्रम कौ देव युनोक्ति चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रिय को कौन देव प्रेरित करता है <clears throat> कौ देव युनोक्ति भाष्य में केने स्वितमिति केन कर्त्रा ईशितम का ऐसा कौन से कर्ता किस कर्ता के द्वारा किसके द्वारा ईशितम इष्टम किसकी इच्छा से अभिप्रेतम सन इसी तम इष्टम इसका अर्थ अभिप्रेतम किसके अभिप्राय से अभिप्रेत होता हुआ मन पतति पतति का तो गच्छति सब विषय प्रतीति संपद्यते अपने विषय को जाता है विषय का चिंतन करता है मन में विषय का चिंतन होता है तो मन जाता है इसे कहते हैं मन पतति गच्छति विषय चिंतन करता है टीका में ईश आभिक्षणे ईश गतो चेति धात्वंतर ईश आभिक्षणे पौन अर्थ में गत्यर्थ के और इच्छार्थ भी है तो यहाँ इच्छार्थ को कहा गया तो धात्वंतर संभव है कथम इच्छार्थ से व्याख्यानम इति आशंका आह केन इसी तम इच्छार्थ व्याख्यान किया गया किसकी इच्छा से तो आभीक्षण अत्यर्थक तो ये धातु भी है वो भी हो सकता है इच्छार्थ का व्याख्यान क्यों किया गया शंका से भाष्य में कहते हैं ईशेर आभीक्षणार्थ से गत्यर्थ से चेह असंभवाद इच्छार्थ से वेतद रूपमिति गम्यते केन ईशितम ईशितम ईसु इच्छायाम धातु से ईशितम बना आभीक्षण है पुनः पुनः अत्यभृषम और गत्यर्थ संभव नहीं होने से यहाँ किसी की इच्छा से मन जाता है इच्छा तो संभव है आभिष्णव का तो पौन पुण्यम बार बार हो तद विषयताया गति विषयताया वा मनसु अनभिप्रेतत्वात् आभिक्षण का विषय मन अथवा गति का विषय मन गतति पतत्य अलग है केन इसी तम किसके मन से गति विषय मन में ऐसा नहीं अभिच्छिन्न गति विषय व मनसो अनभिप्रेतत्वात् मन में गति विषयता अभिच्छिन्न विषयता यहाँ इष्ट नहीं है मन प्रवर्तक विशेष से बहुत मन का प्रवर्तक कौन है इसलिए गति का विषय मन अथवा पुनः का विषय मन में विषयता इष्ट नहीं मन का प्रवर्तक किससे प्रेरित होता है इसलिए किसकी इच्छा से प्रण प्रवर्तक विशेष की बहु जानने की इच्छा तत्वात बुद्धमिष्टम इसलिए किसकी इच्छा से मन जाता है अपने विषय के प्रति ये प्रश्न हुआ यहाँ इसु इच्छाएं धातु में इष्ट बनता है इच्छा का विषय इस धातु से निष्ठा करें तो इष्टम तो भी इसितम प्रयोग किया गया इसितम इति ईट प्रयोगस्तु छांदस छांदस प्रयोग इसितम तस्व प्रपूर्व से नियोगार्थ प्रेषितम प्रपूर्व का इस धातु करेंगे तो प्रेषित होता है नियोग प्रेरित कौन विधान करता है प्रेरण करता है यहाँ जो ईट प्रयोगस्तु छांदस कहा ईट प्रयोगे गुण न भवितव्यम ईट करने पर गुण होना चाहिए ये टिप्पणी में है न भवितव्यम अन्वेषितम अन्विष्टम इति प्रयोग दैविध्य उपपत्तये अन्वेषितम अन्विष्टम दो प्रकार है निष्ठा प्रत्यय हुआ इस धातु से निष्ठा होने पर वहाँ नत्वा सेठ इति अतो अनंतरित निष्ठा सिंह स्विदि मिदि क्षिदि धृषा सूत्र है निष्ठे इति योगम विभज्य नत्वा सेठ के सूत्र है तो आप प्रत्यय सेठ हो तो कीत नहीं होता है किंतु क्योंकि ऐसी तो गुण हुआ तो आप प्रत्यय तो यहाँ तो निष्ठा है त्वा तो प्रत्यय सेठ ईट नहीं होता है किंतु यहाँ तक तो आप प्रत्यय नहीं यहाँ तो निष्ठा तो प्रत्यय है तो नक्त्वा सेठ इति के बाद सूत्र निष्ठा सिंह स्विधि में दीक्षित दिशा के सूत्र है उसमें जो निष्ठा है उसका विवाह करना योग योगम विभज्य निष्ठा को अलग करके सेठ निष्ठा कित नहीं होगा जैसे सेठ त्वा कित नहीं होगा इसी प्रकार सेठ निष्ठा कित नहीं होगा सेठ निष्ठा सामान्य कित्व निषेधस्य कित्व का निषेध किया अभिभगम मतवात माना जाता है तो सेठ इसीतम ईट हुआ ईट होने पर सेठ त्वा जिस प्रकार ईट नहीं होता है सेठ निष्ठा भी कित नहीं होगा सेठ तो इट नहीं कित नहीं होता है सेठ निष्ठा भी कित नहीं होगा तो इसीता में गुण जो किया सेठ है सेठ निष्ठा है यदि कित नहीं होगा तो इस धातु को पुगंत लघुपद से गुण होना चाहिए तो ए सितम बनेगा इसलिए दिया टीका में ईट प्रयोग सति गुण न भवितव्यम ईट करेंगे तो सेठ निष्ठा होगी सेठ निष्ठा उनसे कीत नहीं होगा कित नहीं होगा तो किंगीति च निषेध नहीं करेगा उगंत लघुपद सूत्र से गुण होगा गुण होने पर एशितम होना चाहिए तदा एशितम इति स्यात् तदै तदा एशितम इसे धातु से निष्ठा करके ईट करने पर गुण होने पर कीति का निषेध हो तो गुण हो जाएगा एशितम इति स्यात् किंतु एशितम नहीं केन सितम केन इसितम इसितम है ऐसितम कहते के नई सीतम होना चाहिए के नई सितम के नेसितम तद अभावात छांदस अभिधानम गुण नहीं किया गया इसी गुण अभाव छांदस कहा गया जो ईट प्रयोगस्तु छांदस भाष्य में कहा गया ईट प्रयोग छांदस तो उसका अभिप्राय क्या ईट प्रयोग होने पर गुण होना चाहिए गुण जो नहीं किया गया वह छांदस है तद अभावात का तो गुण अभावात छांदस विधानम न तो धातुर अनिटित्वाद अनुबंध से विकल्प विधानाद अन्वेषितम अन्विष्टम वा वैकल्प प्रयोग आदि न कि धातु अनिट है तो ईट प्रयोग छांदस हो गया जैसे यथाश्रुत अभिप्राय नहीं समझ करके शब्द को लेंगे तो ईट केवल किया धातु अनिट है ईट हो गया छांदस हो गया न तो धातु अनिट तो धातु अनिट होने से ईट प्रयोग छांदस हो नहीं क्यों नहीं अनुबंध से विकल्प विधानात अनुबंध से विकल्प विधानात अन्वेषितम अनिष्टम दोनों प्रयोग होता है विकल्प प्रयोग होता है अन्वेषितम अनिष्टम अनुबंध से विकल्प विधानात ये में टिप्पणी में चार नंबर में अनुबंध सतर आगम को लेकर कोई से कहते हैं आगम शास्त्र में नित्यम कह करके ईट हुआ नहीं हुआ भी किंतु वस्तु तस्तु ये आगे ठीक है एक सूत्र इसुगम्यमाम छ छ होता है लघु में आता है गच्छति बनता है तो इसुगम्यमाम छ इस सूत्र में ईश्व में उकार अनुबंध है सूत्र पाठ में कहीं कहीं ईसगम्यमाम छ कम माम उकार रूप जो अनुबंध है कहीं है कहीं नहीं है आगे दिया उकारानुसंगान अनुसंगाभ्याम पाठ द्वैविध्य प्रचयाद उकार अनुबंध के साथ पाठ है सूत्र में कहीं भी उकार अनुबंध नहीं ईसुगम्यमाम छ कहीं कहीं ईसगम्यमाम उकार अनुबंध के बिना पाठ है विधि पाठ द्वैविध्य प्रचयाद इसी धातुर उदित्वस्य वैकल्पिकत्वात् तो ईश धातु ईशु कहेंगे तो उकारित उदित है ईशु नहीं तो इसी अथवा इस रहेगा तो उदित नहीं है उदित तो से विकल्प हो गया क्योंकि पाठ दो प्रकार मिलता है मान से अनुबंध विकल्प होगा उकार उदित तो उकार उदित हो तो उदित होगा तो उदित होने से क्या होगा तथा तो यदि उदित्वमेव नियतम भविष्य यदि उद में उकार उदित नियत होता है तथा है कि सूत्र उदित वा उदित से विकल्प वा त्वायाम वेट कतया उदित से त्वा में विकल्प सीट होगा उदित हन से एक त्वा प्रत्योन से विकल्प विकल्प ईट यदि हो जाए एक सूत्र यस्य विभाषा जिसका विकल्प से होता है वह ईट निषेध हो जाएगा यस्य विभाषा इति निष्ठायाम ईट निषेधात विभाषा विकल्प का ईट होता है तो निष्ठा में ईट का निषेध हो गया तो ईट का निषेध हुआ तो ईट जो किया गया छांदस निष्ठा में ईट निषेधाद ईटस छांदस तुक्तिर अयुक्षत ईट छांदस ईट प्रयोगस्तु छांदस जो का वो ठीक होता ठीक कब होता यदि इसु गम्य छ में इसु में उकार अनुमत नियत ही होता उदित होने से उदित वा सूत्र से विकल्प सीट होता है जिसको विकल्प सीट होता है एक तो से विकल्प से यस्य विभाषा सूत्र से निष्ठा में ईट निषेध हो जाएगा यदि ईट निषेध हो जाएगा इसितम नहीं बनेगा इष्टम बनेगा तो विसितम प्रयोग किया गया यह ईट प्रयोग छांदस ये छांदस कहना युक्त होता किस पक्ष में यदि इस्सु गम्यमाम च में इस्सु में उकार अनुमद नियत निश्चित ही होता किंतु कहीं कहीं उकार अनुबंध के बिना भी पाठ है माम छ के स्थान पर इसगम्यमाम इसी गम्यमाम इस उकार अनुबंध के बिना भी पाठ है यदि उकार अनुबंध नहीं होगा तो उदित उदितो वा नहीं लगेगा तो आ में विकल्प ईट नहीं होगा तो यश विभाषा नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो ईट निषेध नहीं होगा ईट हो जाएगा अनुदित्व से आप अभ्युपगमे तो यदि अनुदित मानेंगे एक श्रुते तीस सहल वर्ष ऋष तीस सह इत्यादेश तादि सामान्य विषयतया यस् विभाषा इत्यस्य तादि तादि प्रत्यय होते ती ताद प्रत्यय पर हते इति का विकल्प होता है तो सामान्य विषयतया यस्य विभाषा इत्यस्य च और यस्य विभाषा जिसको विकल्प से इट होता है उसका ईट निषेध करेंगे किंतु निष्ठा पर रहते यदि विकल्प विधान हुआ तो आदि प्रत्यय है तो निष्ठा पर रहते विकल्प हुआ तो फिर निष्ठा में निषेध कैसे होगा तीस सहलु भरुष तादु प्रत्यय पर रहते विकल्प करेगा यदि निष्ठा प्रत्यय भी त है तादि है वहां यदि विकल्प हो गया फिर यस्य विभाषा करके निषेध कैसे होगा इसलिए तीस सह में क्या करना पड़ेगा निष्ठा अतिरितेव विकल्पवती निष्ठा से भिन्न तादि प्रत्यय रहते विकल्प होता है जो उसका निष्ठा प्रत्यय रहने पर ईट निषेध हो जाएगा निष्ठा अतिरिक्त एवं विकल्पवती है ना इससे निष्ठायाम ईट विकल्प संभवात तो निष्ठा पर रहते ईट विकल्प विकल्प नहीं निष्ठा अतिरिक्त में यदि ईट विकल्प है तो उसका निषेध होगा किंतु निष्ठा में ईट है तो विकल्प हो जाएगा तीस में विकल्प हो जाएगा ताद प्रत्यय पर रहते विकल्प हो तो तो यस्य विभाषा से निषेध होगा किंतु निष्ठा पर रहते तीस सहसूत्र से विकल्प विधान करने से निष्ठा अतिरिक्त में विकल्प हो तो यस्य विभाषा में निष्ठा में निषेध हो गया अष्ट विभाषा सूत्र के द्वारा और तादि प्रत्यय में यदि निष्ठा प्रत्यय रहते विकल्प हुआ तो विकल्प ही रहेगा निश्चित नहीं हो सकता है निष्ठा अतिरिक्त एवं होती निष्ठा को छोड़ करके अन्यत्र कहीं विकल्प है तो यस्य विभाषा सूत्र से ईट निषेध हो जाएगा निष्ठा में यदि विकल्प है वहां निषेध नहीं होगा अर्थात विकल्प रहेगा इससे निष्ठायाम ईट विकल्प संभवाद ईट ईट विकल्प हो जाएगा उदित नहीं हो तो निष्ठा पर रहने से विकल्प ईट हो जाएगा यदि विकल्प ईट हो जाएगा तो ईट प्रयोग तो छांदस कहना नहीं बनेगा ईट प्रयोग छांदस तब कहेंगे यदि ईशु धातु उदित नित्य होगा तो उदित होने से उदित को मान करके ये छांदस कहना बन जाएगा यदि उदित नहीं है तो ईट विकल्प हो जाएगा विकल्प हो जाएगा तो इष्टम तरह दोनों बन जाएगा तो वहाँ ईट प्रयोग तो छांदस नहीं बनेगा तो फिर उसका अभिप्राय क्या होगा तो आगे दिया ईट विकल्प संभवात गुणा छांदस छांदसत्वोक्तिर नेया इति भाव जो टीकाकार कहते हैं ईट प्रयोग सति गुणे न भवितव्यम तो छांदस जो कहा ईट के लिए नहीं क्योंकि धातु अनिट होने से ईट वैसा नहीं ये तो अनुबंध विकल्प होने से इस में उकार अनुबंध विकल्प है यदि अनुबंध उकार नहीं तो उदित वा नहीं लगेगा और तीस से तादु प्रत्यय विकल्प होता है तो विकल्प में ईट हो जाने से वहाँ ईट प्रयोग छांद से इस ग्रंथ का अर्थ क्या करना पड़ेगा गुणा भावे नैव से तुक्तिर नैया गुणा भावे न एव गुणा भावे अलग नैव अलग नहीं गुणा भावे न एव से तुक्ति गुणा भावे न छा गुणा भाव में ही छांद गुणा भाव के लिए से कथन किया गया ईट से प्रयोग से न भवितव्यम गुण नहीं किया गया तो छांदस कथन तदा एषितम इति स्यात् तद अभाव छांदस तविधानम न तो धातु अनित्य अनुबंध सब विकल्प विधानात इसुगम्य माम चम अनुबंध विकल्प है अन्वेषितम अनिश्चन रूप बनता है तो यह हो गया केन इषितम प्रथम मनः प्रीति ईशितम का प्रेषितम इति द्वय से अर्थमाह एक ईशितम और एक प्रपूर्वक प्रेषितम प्रपूर्वक प्रेषितम प्रेषितम नियोग अर्थ में प्रेरित प्रेरणार्थ में तो दोनों का अर्थ कहते तत्र प्रेषितम इतेव उक्ते केन ईशितम केन प्रेषितम किससे प्रेरित होकर के मन जाता है तो प्रेषितम केवल यदि कहेंगे इच्छा अर्थ नहीं आएगा तो प्रेषयित्र प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा स्याद प्रेषयित्री प्रेषण करने वाला कौन है और प्रेषण किस प्रकार प्रेरणा करना शब्द से हो सकता है इच्छा से हो सकता है कर्म से हो सकता है विभिन्न प्रकार हो सकता है तो किस प्रकार प्रेरण है और प्रेरक कौन है प्रेषयित्री और प्रेषण विशेषज्ञ विषय करने वाले आकांक्षा होगी कैसा कांक्षा होगी केन प्रेषयित्री विशेषेण प्रेषयित्री विशेष कौन है किसके द्वारा प्रेरित होता है केन प्रेरकेण प्रेरक विषय को विषय कौन विशेष कौन है कौन प्रेरणा करने वाला एक है और दूसरा है कीदृशंबा प्रेषणम प्रेषण भी किस प्रकार प्रेरणा करना किस प्रकार शब्द से कर्म से संकेत से किस प्रकार है कीद प्रेषणम तथा चेष्टा से ये दोनों की आकांक्षा दोनों आकांक्षा होगी प्रेरक कौन है प्रेरणा किसी प्रकार है इति तो विशेषण है सती और प्रेषितम कहने के बाद इसितम कर दिया तो किसी की इच्छा से अर्थ आ गया तो इच्छा करने वाला कोई चेतन है और इच्छा ही प्रेरणा है अन्य कोई नहीं स्थितम विशेषण स्थितम इति तो विशेषण सति तद उभयम निवर्तते दोनों आकांक्षा प्रेरक कौन और प्रेषण कीदृश दोनों की निवृत्ति हो जाएगी आकांक्षा क्योंकि इसी कीदृशम प्रेषणम इच्छा रूप प्रेरण है और प्रेरक कौन है इच्छा करता चेतन होगा जड़ नहीं है उसका अर्थ हो जाएगा कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इत अर्थ विशेष निर्धारणाद किस इच्छा से प्रेरित होकर के मन जाता है ये विशेष अर्थ का निर्धारण निश्चय हो जाता है निश्चय हो जाने से आकांक्षा नहीं रहती है किस इच्छा मात्रेण इच्छा न कह देने से कीदृशम प्रेषण यह शंका नहीं रहेगी आकांक्षा नहीं रहेगी इच्छा मात्र से और कस्य इच्छा मात्र इच्छा मात्र कह देने से इच्छा करता इच्छा करने वाला कोई चेतना है शरीर आदि के द्वारा नहीं चेतन कोई है इच्छा करता वो प्रेरणा करने वाला ये दोनों शंका निवृत्ति हो जाएगी इच्छा मात्र नीति प्रयत्न मंत्रण सन्निधि मात्रेण इति व्याख्यातम तो इच्छा न कहन से क्या है इच्छा मात्र इच्छा मात्र कहन से कुछ प्रयत्न नहीं करके सन्निधि मात्रेण ऐसे होता है नहीं कह करके सन्निधि मात्र से राजा उपस्थित हो गए तो सब सेवा में लगे कर्म करने लगे प्रयत्न नहीं करके खाली सन्निधि हो जाने से ही अन्य सब वृत्ति वर्ग सेवा में लग जाते हैं प्रयत्न न सन्निधि न इच्छा न इच्छा मात्र से कुछ नहीं करके ना शब्द प्रयोग करना प्रयत्न हाथ पकड़ कर भी ले सब प्रेरणा कर भी संकेत कुछ नहीं केवल सन्निधि उपस्थिति न प्रेरितम ये अर्थ हुआ तो पूर्व शंका करता है टीका में प्रयत्न के बिना सानिध्य मात्र से मन जाता है ये जो व्याख्यान किया गया नेदम व्याख्यानम अपि शोभते ये व्याख्यान ठीक शोभनीय ठीक नहीं है क्यों नहीं प्रेषितम विषितम दो अलग शब्द प्रयोग है प्रेषितम का प्रेषितम इच्छित इच्छा है प्रेषित कौन से प्रेरणा अपर्या शब्द भेदस्य अर्थ व्यभिचारात् तभेद व्यभिचारार्थ पर्याय शब्द यदि दो प्रयोग कर दिया अर्थ एक होगा दोनों का अर्थ एक है पर्याय कह हैं पर्याय दो शब्द प्रयोग करेंगे तो अर्थ एक होगा दो होगा एक होगा किंतु अपर्याय शब्द यदि दो प्रयोग किया पर्याय ने अपर्याय एक शब्द का एक अर्थ दूसरे शब्द का अन्य अर्थ दो शब्द एक साथ प्रयोग किया गया तो अर्थ एक होगा दो होगा अपर्या शब्द भेदस्य अर्थभेद होना चाहिए यदि अर्थभेद रहे होकर के एक अर्थ होगा तो क्या आपत्ति व्यभिचार हुआ अपर्या शब्द भेद होने से अर्थभेद होना चाहिए अर्थभेद नहीं होता है तो अर्थभेद का व्यभिचार हुआ व्यभिचार प्रसंगात टिप्पणी में दिया व्यभिचार आपत्ति अर्थ अपर्या शब्द का भेद प्रयोग किया गया तो अर्थभेद होना चाहिए किंतु एक अर्थ होगा तो अर्थभेद का व्यभिचार आपत्ति अव्यभिचारादि वा अत्र पाठ साधियान अर्थभेदा व्यभिचाराद अर्थभेद नहीं होता है अपर्याय शब्द भेद है तो अर्थभेद अर्थ शब्द भेद है तो अर्थभेद होना चाहिए अर्थभेद का अव्यभिचार में अर्थभेद होना चाहिए यदि नहीं होगा तो व्यभिचार होगा ये शंका हुई अपिच टीका में यदि एषु अर्थ अभिप्रेत स्याद केन इसितम एतावतेव सिद्धत्वाद प्रेषितमिति च न वक्तव्य यदि ये अर्थ है किसी की इच्छा मात्र से प्रेरित होता है कौसे इच्छा मात्र में प्रेषित यदि अर्थ हो गया तो इसितम आ गया अब प्रेषितम कहना क्या जरूरत है केवल प्रेषितम कहेंगे तो दो विषय प्रेषयित्री कीदृशम प्रेषणम यह आकांक्षा रहेगी ये दोनों आकांक्षी निवृत्ति के लिए ईशितम कहा यदि ईशितम कहन से दोनों आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है यही अभिप्रेत अर्थ है तो क्या कहना चाहिए केन ईशितम इतने कहो प्रेषितम तो कहना जरूरत नहीं यदि ऐसो अर्थ अभिप्रेत स्यात् केन ईशितम इति एतावत एव सिद्धत्वात् केन ईशितम अन प्रेरित प्रतपति प्रेषित नहीं कहना चाहिए इतने से अर्थ सिद्ध हो गया किसकी इच्छा से माना जाता है प्रेषितमित न वक्तव्यम तो प्रेषितम नहीं कहना चाहिए पूर्व पीछे पूछता है इतने ही यदि किसकी इच्छा से जाता है यह अभिप्रेत है तो केन इषितम मन प्रेति इतने पूछो पूछना चाहिए और प्रेषितम क्यों कहा प्रेषित तो नहीं कहना चाहिए केवल प्रेषित कहेंगे तो आकांक्षा दो होती है उसकी निवृत्ति के लिए इषितम कहना किंतु इषितम ही केवल कह देंगे दोनों आकांक्षा निवृत्त हो गई आकांक्षा की निवृत्ति होगी और प्रेषित कहना जरूरत नहीं और कारण भी है कह कर प्रेषितम कहते दो अलग-अलग ईशितम कहते इच्छा मात्र प्रेषित कहन से प्रेरणा शब्दाधिक्याद अर्थाधिकम युक्तम शब्द अधिक है तो अर्थ अधिक होना चाहिए एक अर्थ को कहने के लिए दो अलग-अलग शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा इसीतम कह कर प्रेषितव कहा तो अन्य कुछ अधिक अर्थ होना चाहिए प्रेषितव नहीं कहना चाहिए यदि कहा गया कोई अधिक अर्थ मानना चाहिए अर्थात यहीतम इति इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम इत अर्थ विशेष अवगंतुम युक्त पूर्व जी कहता है इसीतम इच्छा से कर्म के द्वारा शब्द के द्वारा या कि वाक्यन प्रेषितम किसके द्वारा प्रेरित हुआ इच्छा से कर्म के द्वारा शब्द के द्वारा शब्द से कहा करो जाओ कर्म हाथ पकड़ा कर चला दिया कर्म को संकेत दिखा दिया तो अर्थ विशेष होना चाहिए ये शंका हुई टीका में तदुक्तोयम अर्थ विशेष न घटते ये जो अर्थ विशेष कहा कि ये किस प्रकार प्रेरणा कैसा है कर्म इत्यादि नहीं होगा संघात से विच्छादि भी प्रवर्तकत्व सिद्धे संघाती इच्छा आदि के द्वारा को होता है संघात देह इंद्रिय संघात समुदाय है वही तो प्रवृत्त को कर, कराता है चैत्र प्रवर्तयति पिता पुत्रम प्रवर्तयति तो प्रवृत्त कराता है संघात को लेते हैं ही प्रवृत्त कराता है संघात जड़ कैसे प्रवृत्त करेगा इच्छा आदि भी इच्छा के द्वारा इच्छा के द्वारा कर्म से वाणी के द्वारा प्रवृत्त होता है तो फिर प्रश्न ये जो कहा गया अलग प्रश्न किया गया दो इशितम कह करके प्रेषितम कहा गया तो ये अर्थ अधिक होना चाहिए इच्छा से कर्म से वाणी से किसके द्वारा प्रेरित ये अर्थ होना चाहिए तो सिद्धांत कहता है ये विशेष अर्थ नहीं ठीक नहीं है क्योंकि तो प्रसिद्ध है संगात ही इच्छा आदि के द्वारा प्रवर्तक होता है ये सिद्ध है तो फिर प्रश्न करना व्यर्थ हो जाएगा प्रश्नानुपपत्ति प्रसंगात प्रश्न व्यर्थ प्रसंग है इतिहास सिद्धांतिकता न प्रश्न सामर्थ्याद देहादि संघाताद अनित्याद इत्यादि प्रश्न सामर्थ्याद प्रश्न सामर्थ्याद कहा गया देहादि संघाताद अनित्याद कर्म कार्याद विरोधो अतो अन्यत कूटस्थम नित्यम वस्तुभूत समान प्रचदिति सामर्थ्याद उपपद्यते सामर्थ्याद उपपद्यते के तीन नंबर टिप्पणी है अस्मद उक्त अर्थ हमारे जो कहा मैंने हमने जो कहा वो ठीक है प्रश्न सामर्थ्याद प्रश्न करता है तो देहादि संघात तो प्रसिद्ध है प्रेरक होता है ये अनित्य है कर्म कार्य है उसे विरत देहादि संघात तो सब कुछ करता है ये तो प्रसिद्ध है अनित्य है कर्म से होता है मनुष्य आदि जन्म प्रति उससे विरक्त होकर के उससे भिन्न जो कर्म का कार्य पुण्य पाप कर्म का कार्य उसे अन्यत है कुटस्थ नित्य वस्तु उसको जानना जानना चाहता है चाहता है प्रश्न कर रहा है कर्म कार्य से सबसे विरक्त होकर के उससे भिन्न जो कर्म का कार्य नहीं है कुटस्थ नित्य स्थित वस्तु है उसको जानने की इच्छा करते प्रश्न करता है इति सामर्थ्याद उपपद्यते प्रश्न सामर्थ्य से ये अर्थ हो जाता है इतरथा इच्छा वा कर्म भीर देहादि संघातस्य प्रेरितित्वम प्रसिद्धमिति प्रश्न अनर्थक एव स्यात् नहीं तो इच्छा के द्वारा वाणी के द्वारा कर्म के द्वारा ये सब किसी के द्वारा देहादि संघात ही का होता है देहादि संघात चैत्र मित्र आदि चैत्र को छति चैत्र प्रेरयति गुरु पाठयति तो संघात को लेकर का प्रयोग होता है शब्द देहादि संघात प्रेरक होता है ये प्रसिद्धम जब प्रसिद्ध है तो प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा इति प्रश्न अनर्थक एव स्यात् प्रश्न अनर्थक हो जाएगा तो प्रश्न किया गया इसका अर्थ वो कर्म कार्य से विरत अन्यत कुटत तो जानना चाहता है इसलिए प्रश्न करते हैं ईशितम प्रेषितम दोनों कहा तो ईशितम कहने से केवल इच्छा तो हो सकता था और संघात तो इच्छा से प्रेरण करता है फिर प्रश्न किया गया तो प्रश्न करने से ये हो जाएगा इच्छा से प्रेरित प्रेरण करने वाला कोई दूसरा है देहादि संघात प्रेरण करता है कि इच्छा मात्र से किस प्रकार प्रेरण करता है ऐसे इसी तम कहेंगे तो इच्छा मात्र से प्रेरित होता है तो देहादि संघात से कोई है जिसकी इच्छा से प्रेरित होता है पूर्व पीछे कह, फिर कहता है एवं अपि प्रेषित शब्द से अर्थो न प्रदर्शित है जो हमने पहले कहा था यदि इच्छा मात्र से प्रेरित होकर होता है मन जाता है ये अर्थ अभिप्रेत है तो केन इसितम इतने मात्र से अर्थ सिद्ध हो गया प्रेषितम इतना वक्तव्यम प्रेषित नहीं कहना चाहिए और आपने कहा प्रेषितम इसलिए कह दिया प्रश्न सामर्थ्य से इच्छा शब्द अधिक है तो अर्थ अधिक होना चाहिए तो इच्छा से कर्म के द्वारा वाणी के द्वारा किससे प्रेरित इस अर्थ होना चाहिए इसी तम तो कहने के बाद पुस्तक का सिद्धांत ने उत्तर दिया प्रश्न सामर्थ्याद कर्म कार्य से विरत कूटस्थ जानना चाहता हुआ पूछता है किसकी इच्छा से तो फिर यदि किसकी इच्छा से प्रेरित इच्छा करने वाला कोई अन्य है ये अभिप्रेत है तो केने सितम इतने से हो जाएगा अब प्रेषितम कहने की क्या आवश्यकता है एवं भी प्रेषित शब्द का अर्थ तो नहीं दिखाया तो सिद्धांत कहता है न टिप्पणी पाँच रो टिप्पणी दिया सिद्धांत गति से पदद्वय का सार्थक कह दिया तत्र प्रेषितम इत्यादि ना पहले बता दिया प्रेषितम केवल कहेंगे तत्र प्रेषितम कहेंगे तो तो कीदृश प्रेषणम प्रेषयित्रित कौने ये दोनों की आकांक्षा होगी इसी तम कहन से दोनों की निवृत्ति हो जाएगी तो भी इसी तम कहने से दोनों की निवृत्ति हो जाएगी तो इसी तम प्रेषित दोनों क्यों का ये प्रश्न क्या था तो इसी तम से हो जाएगा अधिक शब्द अधिक प्रयोग होना चाहिए अर्थ तो उसका उत्तर दे दिया जो प्रश्न करता है तो देहादि संघात प्रेरक होता है तो सिद्ध है किंतु से विरत तो कोई देहादि संघात से भिन्न है ये कौन प्रेरणा करने वाला है प्रेरक कौन है कर्म कार्य से विरत अन्य कूटस्थ वस्तु तो जानना चाहता है पूछता है कौन प्रेरणा करने वाले तो इसलिए प्रेषितम प्रेरणा करने वाला हुआ और इच्छा से प्रेरित होता तो इच्छा का कर्ता कौन है देहादि संघात जो प्रसिद्ध है उसे विरत है ये कुछ नहीं ये अनित्य देहादि संघात से अन्य कौन है जो प्रेरणा करने वाला ये अर्थ सिद्धांत ने कहा तो ये तो अर्थ कह दिया टीका में दिया सिद्धांत गत्या पदत्व का अर्थ कह दिया कहने पर भी बुद्धि में विषय नहीं होता बुद्धि न आरोति न आरोति चेत विधांतर न तदवदन प्रतिविधते अन्य प्रकार से कहते संशयवतोयम प्रश्न उसको निश्चय नहीं है देहादि संघात से अलग कोई है करके निश्चय नहीं है प्रश्न कर रहा है तो संशय है संशय बताएं प्रश्न यदि प्रेषित शब्द से अर्थ विशेष उपपद्यते तो प्रेषित शब्द का विशेष अर्थ हो जाएगा ये इच्छा मात्र से प्रेषित प्रेरित होता है इच्छा मात्र से प्रेरित होता है कोई है देहादि संघात से बिना अथवा जैसे प्रसिद्ध देहादि संघात कैसे प्रेरित होकर के करता है ये प्रश्न संशय वाला होने से प्रश्न हो सकता है कैसे संशय उसका अभिप्राय कहते किम यथा प्रसिद्धम एव कार्यकरण संघातस्य प्रेषयितृत्वम किंबा संघात स्वतंत्र से इच्छा मात्रेण एव मनादि प्रेषयितृत्वम इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम केनचितं पतति प्रेषितं मनयति विशेषण निश्चय नहीं है है कर्म कार्य से विरक्त है कोई उससे अलग होगा तो किम यथा प्रसिद्धमेव कार्यकण संघात से प्रसिद्धत्वम केन प्रेषितम प्रसिद्ध है कार्यकण संघात कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय ये समुदाय वही प्रेरक होता है जैसे प्रसिद्ध है अथवा इससे भिन्न कोई है कि जिसकी इच्छा से ही किंवा संघात स्वतंत्र स्वतंत्रस्य संघात से भिन्न स्वतंत्र है चेतन कुटस्थ जिसकी इच्छा मात्र नैव इच्छा मात्र से मन आदि का प्रेरक हो जाता है संघात व्यतिरिक्त चेतन मन आदि प्रसेतृतम इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम इस अर्थ को दिखाने के लिए प्रश्न के निशितम और प्रेषितम दोनों विशेषण दिया मन का के निशितम पतति प्रेषितम मनैति विशेषण द्वयम उपपद्यते मन का इशितम और प्रेषितम तो इच्छा मात्र से अथवा प्रेरित होता है संघ तो संघात के द्वारा ही अतः संघात से व्यतिरिक्त कोई है स्वतंत्र जिसकी इच्छा से प्रेरित होता है ये दोनों प्रश्न दोनों विशेषण सार्थक हुआ मन इति विशेषण द्वयम उपपद्यते आगे मनस स्वातंत्र्यात मन स्वतंत्र है मन अपने आप जाएगा उसको उसका प्रवृत्त को क्या जरूरत है मनस स्वातंत्र्यात स्वव्यतिरित प्रवृत्त संभावना असंभाव अभावात प्रश्न न घटते इति आक्षेप समाधते आक्षेप करते मन स्वतंत्र है अपने विषय को जाएगा जाता है मन भागता है हम नहीं चाहने पर भी तो मन स्वतंत्र है शंका है मनस स्वातंत्र्याद स्वतंत्र होने के कारण मनस स्वातंत्र्यात आगे प्रश्न में हम मन टीका में है मनस स्वातंत्र्यात स्व्यतिरित प्रवर्तक संभावना अभावत स्व्यतिरित मन से भिन्न कोई है स्वव्यतिरिक्तस्य प्रवर्तकस्य संभावना अभावत स्व्यतिरित कोई प्रवर्तक उसकी संभावना ही नहीं मन स्वतंत्र है उसका व्यतिरिक्त तो कोई प्रवर्तक है उसकी संभावना नहीं है जब संभावना नहीं तो प्रश्न कैसे होगा प्रश्न तो होता है संभावना हो तो स्व व्यतिरिक्त प्रवर्तक की संभावना हो तो प्रश्न होगा उससे व्यतिरिक्त कोई प्रेरणा करने वाला है अथवा नहीं है संभावना जहाँ नहीं तो प्रश्न कैसे होगा सब व्यतिरिक्त प्रवर्तक संभावना अभावात अवग्रह है अभावत संभावना ही नहीं उनसे प्रश्न न घटते ऐसा आक्षेप करके समाधान करते हैं आक्षेप पहले भाष्य में ननु स्वतंत्र मन स्विषय स्वयं पतति प्रसिद्धम मन तो स्वतंत्र है अपने विषय को स्वयं भागता है ये तो प्रसिद्ध है इसमें प्रश्न क्या हो क्यों तो तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते थी प्रश्न कैसे बनेगा मन किसके द्वारा प्रेरित होकर के जाता है किसकी इच्छा से जाता है ये प्रश्न नहीं बनेगा उच्चते उच्चते करके उसका समाधान उत्तर सिद्धांत देता है यदि स्वतंत्र मन प्रवृत्ति निवृत्ति विषय स्याद तरी सर्व अनिष्ट चिंतनम न स्याद अनर्थम च जानन संकल्पेति यदि मन स्वतंत्र होता प्रवृत्ति निवृत्ति विषय स्वतंत्र है जहाँ चाहे प्रवृत्त हो जहाँ चाहे निवृत्त हो जाए ऐसा यदि हो जाता तो सब अनिष्ट चिंतन नहीं करते सर्व अनिष्ट चिंतन न स्याद सर्वस्य प्राणी जात से अनिष्ट चिंतन कभी करते हैं अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए अनर्थम च जानन संकल्प यदि जानता है अनर्थ फिर भी संकल्प करता रहता है सोचता रहता है जो अपना अपनी वस्तु नहीं है अन्य का है कहता ये हम सोचता है हमको मिल जाए हमें मिल जाए हमारे पास आ जाए हमें मिल जाए तो ये तो दूसरे वस्तु अपने पास आए तो अनर्थ है पाप कर्म करने पर अनर्थ होगा जानता है तो भी चाहता है ऐसे कर लो ऐसे गुण ले लो इसको प्राप्त कर लो अनर्थ जानता हुआ ही संकल्प करता है जानता है अनुचित है पाप है फिर कहता है मिल जाए मिल जाए इसको प्राप्त कर लो जानते हुए संकल्प करता है जो अनिष्ट जिस चिंतन नहीं करना चाहिए निश्चित है मन उसका चिंतन करता है कभी तो ये संकल्प करता है यदि स्वतंत्र होता अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए किंतु चिंतन करता है अत्युग्र दुखे च कार्ये वार्यमानमपि प्रवर्तते मन अत्युग्रम दुखम अत्युग्रम दुखम दुखे च कार्ये अद्यतनेन दुखे द्युताधिकारी हाँ अत्युग्र दुखे अत्युग्रम दुखम यस्य येन जिससे अत्यंत दुख होता है कष्ट होता है ऐसे कार्य में प्रवृत्त होता है अत्युग्रम दुखम येन भवति तत् कार्यम अत्युग्र दुखम कोई कर्म करने से अत्यंत कष्ट होता है तो कर्म में वारणा करते नहीं करो नहीं करो भाग जाता कभी चिप करके वो कर्म करता है ऐसे कौन कार्य है टीका में दिया अद्यतनिन दुखे अद्यतनिन दुखे द्युताधिकारी सद्य अद्यतन सद्य दुख देने वाला अत्युग्र दुख है कोई तो दुख पाप कर्म करने के बाद करेगा तो नरक जाएगा मरने के बाद किंतु कोई कार्य सद्य ही दुख देने वाला द्यूत क्रीड़ा करते हैं उसमें धन संपत्ति लूट जाती है चढ़ाते लोग चला गया बहुत लाख लाख रुपया लेकर जाते खेलने के लिए उसे चढ़ाया तो हार गया दुखी होगा दुखी और फिर खाली ऐसे वापस आएगा सोचता है मिल जाए एक लाख लेकर के पाँच लाख दस लाख लेकर आ जाऊंगा वो एक लाख ही चला गया फिर दूसरे दो चार दिन से मना करता है और ऐसा नहीं करना कान पकड़ता है नहीं करेंगे फिर कुछ दिन के बाद पाँच लाख जाता है एक लाख चला गया अभी ये पाँच लाख या दो लाख लगाऊंगा चार लाख लेकर आऊँगा फिर दो भी चला गया फिर कहता और अधिक लेकर जाऊँगा ऐसे करके सर्वस्व चला जाता है बहुत लोगों को ये जो क्या सट्टा आदि खेलते उसमें भी ऐसा होता है क्या करते सब बहुत लोग रुपया कमाने के चाहते हैं किंतु उसमें सब हारते हैं दुखी होते तो वारणा कर वारण करते मना करते हैं स्वयं कहता नहीं करूंगा फिर कुछ दिन के बाद करता है अत्युग्र दुखे च कार्य वार्यमानम अपि प्रवर्तते मन मन भागता है तस्माद युक्त एव इसलिए मन स्वतंत्र नहीं है ऐसे किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन भागता है युक्त एव केन सितम इत्यादि प्रश्न केन स्थित इत्यादि प्रश्न युक्त है वो कौन ऐसे किसकी इच्छा से किसकी प्रेरणा से मन ऐसे भागता है मन कैसे इधर-उधर हो जाता है तो प्रश्न हुआ तो संघात देहादि संघात प्रसिद्ध है इच्छा से प्रेरणा करने वाला किंतु जैसे प्रसिद्ध संघात प्रेरणा करने वाला है अथवा उससे भिन्न कोई है जिसकी इच्छा मात्र से मन इधर-उधर जाता है ये प्रश्न हुआ अब मन स्वतंत्र नहीं क्योंकि मन नहीं चाहने पर भी निषिद्ध कर्म में लग जाता है सद्य दुख मिलने वाले द्वित्व क्रीड़ा में भी लग जाता है प्रश्न हुआ के निषिद्ध मन प्रीति ये प्रश्न एक प्रथम प्रश्न का उत्तर हो गया इसितम प्रसिद्ध अर्थ कह करके आगे दूसरा है के निषिता वाचम्यमा बदंती किसके द्वारा इष्ट प्रेरित होकर के इमाम वाचम वदंती ये शब्द कहते शब्द लक्षणाम वाचम वदंती लौकिक लोक शब्द प्रयोग करते किसकी इच्छा से तथा चक्षु श्रोतम च स्वे विषय क उदेव द्योतनवान युनक्ति युनक्ति का अर्थ नियुक्ते प्रेरिति नियोग करता है प्रेरित करता है कौन प्रेरणा करता है चक्षु को श्रोत्र को से विषय अपने विषय में प्रेरणा करता है अपने विषय को ग्रहण करते चक्षुत इंद्रिय क उ देव कौ नाम देव ऐसे कौ देव का तो कौन है देव और कौ प्रश्न के लिए इसे व्याख्या की कौ प्रश्न के लिए कौन कौन है इसे देव देव कौन है देव का से तो द्योतनवान प्रकाशवान कौन इसे प्रकाशवान है जो अपने अपने विषय में नियोग करता है चक्षु को श्रुत सब इंद्रिय को इंद्रिय को प्रेरणा करने वाले इसे प्रकाशमान देव चेतन वो कौन है ये प्रश्न हुआ ऐसा पूछने पर उत्तर देंगे आचार्य तो इसमें वाक्य भाष्य में यहाँ तो हुआ था तन असति चेतनावती अधिष्ठातरी उपपद्यते तद विशेष हां ये अतो व्यावृत बाह्य बुद्धेर आत्मविज्ञानाय केनेशितम इत्यादि आरंभ बाह्य विषय से जब बुद्धि हट गई आत्म जिज्ञासा होने से आत्मज्ञान के लिए केनेशित इत्यादि आरंभ हुआ ये संग्रह वाक्य है प्रवृत्ति लिंगाद विशेषार्थ प्रश्न उपपन्न ये प्रश्न क्यों पहले होता है तो तो उसका उत्तर दिया प्रवृत्ति लिंगाद विशेषार्थ प्रश्न प्रवृत्ति है लिंग प्रवृत्त होता है तो उसका कोई प्रवर्तक होना चाहिए तो कोई प्रवर्तक है तो निश्चय हो गया किंतु विशेष कौन है विशेषार्थ प्रश्न जड़ में प्रवृत्ति होती रथ आदि चलने लगने लगनाता है तो समझते हैं कोई खींचने वाला अश्व आदि सारथी आदि आ गए रथ चलने लगा इसी प्रकार ये जड़ में प्रवृत्ति होती तो कोई प्रवर्तक है चेतन किंतु तो प्रवर्तक कौन ये ज्ञान नहीं तो प्रश्न हुआ सामान्य ज्ञान होने पर अनुमान से विशेष निश्चय करने के लिए प्रश्न हो जाएगा टीका में एवं उपनिषदारंभम संभाव्य वाक्यस्य अर्थम संग्रहणादि उपनिषद आरंभ की संभावना हुई आवश्यक निश्चय हुआ तो वाक्य से अर्थम श्रुति वाक्य का अर्थ संग्रह करके भगवान भाष्यकार कहते हैं पहले प्रश्न क्यों हुआ तो संग्रह कर कहते प्रभुति लिंगाद विशेषार्थ प्रश्न शिष्याचार्य हो प्रश्न प्रतिवचन रूपा श्रुति सुख अर्था प्रवृता तत्र प्रश्न किम ज्ञाते अज्ञाते वा इति चोद्य निराशाय सामान्यत ज्ञाते भी विशेषतश्च अज्ञाते संभवति विकल्प कर्णवदेति सूत्रितम एतद् विगुणति शिष्याचार्य हो प्रश्न प्रतिवचन रूपा श्रुति श्रुति इस प्रकार यहाँ प्रश्न उत्तर रूप से है श्रुति स्वयं प्रश्न उत्तर रूप है तो प्रश्न किसका होगा शिष्य का उत्तराचार्य का शिष्याचार्य हो प्रश्न प्रतिवचन रूपा प्रश्न प्रतिवचने रूपे यस्या सा श्रुति प्रश्न प्रतिवचन रूपा शिष्य का प्रश्न आचार्य को उत्तर श्रुति जब देखेंगे स्पष्ट होता है कोई प्रश्न करता है कोई उत्तर देते हैं तो श्रुति स्वयं प्रश्न उत्तर रूप होकर के कहती है ऐसा क्यों श्रुति लेके होने के पहले कोई शिष्य गुरु के पास गया गुरु से समय संवाद हुआ उसके बाद श्रुति में लिखा गया श्रुति अनादि है अनादि होने के कारण उसके पहले कोई घटना हुई थी कभी कोई शिष्य गुरु के पास जाकर पूछा था उसको जैसे अभी लिखते हैं कोई कथा कभी कुछ हुई थी उसको बताते हैं पुराना आदि में से कुछ हुआ था उसको बताते हैं इसी प्रकार कभी ऐसे घटना होने के बाद श्रुति में लिखी जाती है ये अर्थ नहीं है जनक याज्ञा बोल के संवाद हुआ श्रुति में आया तो ऐसे संवाद पहले हुआ उसके बाद श्रुति में आया ऐसे अर्थ नहीं होगा क्योंकि श्रुति अनादि है यदि श्रुति अनादि है उसके पहले कभी संवाद हुआ था ऐसे अर्थ नहीं होगा तो भी जितने कथा सो इसके कथा क्यों है कहीं कहीं कथा तो सुख प्रतिपत्त्यर्था सुख से ज्ञान के लिए तो सुख से ज्ञान के लिए आख्यायिका रूप से कही जाती है तो आख्यायिका बिल्कुल है ही नहीं बिल्कुल सस ससविशान जैसे ऐसे कभी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ ये भी नहीं कह सकते श्रुति के पहले इसे घटना हुई थी ये तो नहीं कह सकते अनादिकाल से श्रुति हुई किंतु श्रुति अनादिकाल से होने पर बाद में कभी से घटना नहीं हुई आगे नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं अभी आगे कभी जनक जाज्ञवल्क संवाद नहीं होगा हो सकता है कभी ऐसे घटना हो आगे कभी जनक नाम के नाम कोई रख सकता है रख सकता है इसके पहले कभी नहीं था अनादि काल है इसके पहले कितने अभी जो आप लोग है इसके पहले कितने साल चला गया अनादि काल से कितने कल्प कोटि कल्प चलेगी किसी कल्प में इस संवाद हुआ होगा कितने बार हुआ होगा एक बार नहीं कितने बार हुआ होगा जैसे वेद में है इसी प्रकार घटना अभी तक नहीं हुई है कोई कहेगा निश्चय होगा कितने बार हुआ होगा इसलिए ये घटना कभी नहीं हुई है ये नहीं कह सकते किंतु इसे घटना होने के बाद श्रुति में आया ये नहीं कह सकते श्रुति में अनादिकाल से है जैसे है इस प्रकार घटना कितने बार हो गई होगी ऐसे नहीं कह सकते कभी नहीं ठीक है आगे कभी हुई हुई आगे कभी हो ये बात अलग है किंतु अनादि श्रुति में ऐसी कथा आख्यायिका क्यों है तो आख्यायिका सुख प्रतिपत्ति अर्थात प्रवृत्ता सुख से सुखेन प्रतिपत्ति अर्थ प्रयोजन यस्य श्रुतिया श्रुति का ही प्रयोजन प्रश्न उत्तर श्रुति का सुख से ज्ञान होने के लिए तत्र प्रश्न क्या गया जब प्रश्न करते हैं विषय का ज्ञान होने पर प्रश्न होगा या नहीं जान करके प्रश्न होगा कोई प्रेरणा करता है इसे जान करके प्रश्न या नहीं जान करके यदि जानता है तो फिर पूछता क्यों यदि नहीं जानता है तो ये कैसे कहेगा किसकी इच्छा से जाता है किसी की इच्छा से जाता है यदि जानता है तो प्रश्न नहीं होगा और यदि नहीं जानता है तो भी प्रश्न नहीं होगा प्रश्न किं ज्ञाते अज्ञाते वाइति ये आक्षेप है प्रश्न क्यों हुआ विकल्प तो चौद्य निराशा या आक्षेप निराकरण करने के लिए सामान्यत ज्ञाते भी विशेषत ज्ञाते संभवती सामान्य तो ज्ञान है किसकी इच्छा से है किंतु विशेष कौन है इच्छा करने वाला कौन है विशेष ज्ञात नहीं तो प्रश्न हो सकता है सामान्य तो ज्ञान है तो विशेष तो प्रश्न हो सकता है ये संभव है विकल्प करणवत इति सूत्रितम एतद विवृणति विकल्प करना बता विकल्प करते हैं दो तीन प्रकार विकल्प जो करते हैं क्या प्रश्न ज्ञात में अथवा अज्ञात में ये प्रश्न विकल्प क्या आता है जान करके पूछता है नहीं जान करके पूछता है जो विकल्प हुआ और विकल्प फिर कैसे करेगा विकल्प कल्पना करने के लिए दोनों पक्ष का ज्ञान चाहिए नहीं यदि बने न स्यात् तरी अपनी न स्यात् पर्वत में बनी नहीं तो धूम नहीं होना ऐसा कहने के लिए पर्वत में बनी अभाव ज्ञान धूम अभाव ज्ञान ज्ञान नहीं होगा सदप्रयोग नहीं कर सकता है कहीं ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान कहीं आहार्य ज्ञान हो किंतु शब्द प्रयोग करेगा तो ज्ञान चाहिए कुछ ना कुछ विकल्प करेगा पर्वत वन्यमा नवा तो वन्यमा नवा ऐसा विकल्प करने के लिए पर्वत बन्नीमान करे निश्चय होकर के अतः निश्चय नहीं होकर के वन्यमान नहीं है निश्चय होने का प्रश्न होगा क्या निश्चय होने पर निश्चय नहीं तो सामान्य तो वन्य हो सकते पर्वत का ज्ञान है वन्य हो सकती है नहीं भी हो सकती है ऐसे विशेषतः अज्ञान है वन्य भाव है अथवा वन्य भावे सामान्य पदार्थ बहुत है तो वन्य भी रह सकती है जैसे विकल्प किया जाता है विकल्प जो होता है जान करके या नहीं जान करके उसी प्रश्न का जो उत्तर होगा इसी प्रकार इसका भी प्रश्न कैसे होगा ज्ञात विषय में प्रश्न अज्ञात विषय में प्रश्न उत्तर होता है सामान्य तो ज्ञात विशेषतः अज्ञात विकल्प कर्ण व्यतीत सूत्रितम एतद संग्रह सूत्र रूप से कहा गया प्रवृत्ति लिंगाद विशेषार्थ प्रश्न उपपन्न ये सूत्र से कहा गया सामान्य तो ज्ञान है प्रवृत्ति रूप लिंग से सामान्य ज्ञान है कोई प्रवर्तक है किंतु विशेष कौन प्रवर्तक है निश्चय नहीं इसलिए विशेषार्थ प्रश्न हो जाएगा ये कहते रथादि नाम ही चेतनावद अधिष्ठिता नाम प्रवृत्ति अधिष्ठा न अनधिष्ठिता नाम रथादि प्रवृत्ति को देख करके प्रश्न होगा कौन इच्छा करने वाला है किस इच्छा से इच्छा का करने वाला कौन इच्छा करता विशेष ज्ञान के लिए प्रश्न है ओम आ